विक्रांत सर आप अपना ये जोक बंद करो इंस्पेक्टर अशोक ने जोर से चिल्लाते हुए कहा आप खुद अपना दिमाग यूज नहीं कर रही है मैं इधर का सीनियर इंस्पेक्टर है भले ही मैं बहुत बड़ा केस नहीं सॉल्व की है लेकिन फिर भी मेरे को पुलिस के नियम काफी मालूम है आप खुद सोचो अगर मुझे अपनी माँ का बदला लेना होता तो मेरे पास कई रास्ते थे मैं कुछ भी कर सकती थी मैं चाहती तो लीगल एक्शन लेकर भी फिल्म बंद करवा सकती थी उसके लिए मुझे किसी का मर्डर करने की क्या जरूरत थी लीगल एक्शन वाह विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा अगर तुम्हारी माँ को अपनी आइडेंटिटी छुपाने के डर नहीं था तो फिर वो इतने सालों से छुप कर क्यों रह रही थी बताओ अशोकन के पास विक्रांत के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था उसने आगे मासूमियत भरे लहजे में कहा सर आप मेरा बिलीव क्यों नहीं करती है अगर मेरे पास लीगल एक्शन लेने का चॉइस नहीं थी तो भी मैं बहुत कुछ कर सकती थी मैं इधर इस एरिया का सीनियर इंस्पेक्टर है और अगर मैं चाहता तो अपने एरिया में तुरंत शूटिंग करने से मना कर सकती थी लेकिन फिर भी मैंने ऐसा नहीं कुछ की क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं थी मैं ऐसा करना ही नहीं चाहती थी अशोकन ने कहा इसके बाद अशोकन ने थोड़ा नरम लहजे में विक्रांत को समझाते हुए कहा देखो सर मैंने अपनी माँ की आइडेंटिटी छुपा कर रखी ये मेरी मिस्टेक है और मैं इसके लिए सॉरी भी बोल रहा हूँ लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं अपनी माँ के साथ हुए हादसे को दोबारा से खोद कर उसके जख्मों पर नमक नहीं छिड़कना चाहता था इसलिए ही मैंने ऐसा की मेरी बस इतनी ही मिस्टेक है मैंने किसी का मर्डर वगैरह नहीं किया प्लीज आप मेरा यकीन करो इंस्पेक्टर अशोकन के इमोशनल शब्दों का असर तुरंत दिखाई देने लगा वहाँ मौजूद पुलिस वाले अशोकन की तरफ दया भरी नजरों से देखने लगे जबकि विक्रांत की तरफ देखते हुए उनका रिएक्शन अजीब था वो सब लोग अब विक्रांत को अजीब सी नजरों से देखकर उसे क्रिटिसाइज करने लग गए थे वाह बहुत सही विक्रांत ने अशोकन को शाबाशी देते हुए कहा अशोकन तुम बहुत चलाक हो वाकई में बहुत जीनियस हो तुम्हें तो यहाँ का हेड पुलिस ऑफिसर होना चाहिए तुम्हें यहाँ का सीनियर इंस्पेक्टर बनाकर पुलिस वालों ने गलती की है तुम्हें तो यहाँ का हेड होना चाहिए गलती कर रहे हैं ये लोग तुम्हारे टैलेंट की अनदेखी हो रही है यहाँ पर इतना कहने के बाद विक्रांत ने हर्षित की तरफ इशारा करते हुए कहा हर्षित दिखाओ इन्हें अशरफ ने तुरंत ही स्क्रीन पर उनकी मछली बेचने वाली लड़की की माँ की फोटो स्क्रीन पर दिखाते हुए कहा देखो विक्रांत ने तुरंत ही स्क्रीन पर दिखाते हुए कहा ये औरत चोरी और लूटपाट का काम करती है और इसको लास्ट ईयर पुलिस ने अरेस्ट किया था इसने एक बिजनेसमैन को आर्टिफिशियल ड्रग देकर मारा था और फिर उसके घर से लाखों की चोरी भी की थी मजे की बात यह है कि इस औरत को इंस्पेक्टर अशोक ने ही अरेस्ट किया था फिर उसने आगे की स्टोरी बताते हुए कहा हमने उस ड्रग के बारे में पता किया और पता है विक्रांत ने दूसरी फोटो स्क्रीन पर खोलकर दिखाते हुए कहा यह ड्रग उसी फार्मूले का है जिस फार्मूले से वर्कला बीच पर फिल्म क्रू के विक्टिम को मारा गया है अब जाकर वहाँ मौजूद पुलिस वालों को सारी कहानी समझ में आई और अब उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई इंस्पेक्टर अशोकन ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा मुझे याद है मैंने ही उस औरत को अरेस्ट की थी उसने अपना जुर्म कबूल नहीं किया था और डेफिनेटली उसका कोई ना कोई पार्टनर भी था तो अगर हम उसका पार्टनर को ढूंढ लें तो हो सकती है कि हमें दूध का भी पता लग जाए विक्रांत ने इंस्पेक्टर अशोकन की तरफ इशारा करते हुए कहा जिस आदमी ने उस औरत का ड्रग चुराया था और फिर उससे फिल्म क्रू के लोगों का मर्डर किया वो तुम ही हो नॉन ऐसा कैसे हो सकती है मैं भला उस लेडी के ड्रग का यूज क्यों करेगा अशोकन ने अपना सब्र खोते हुए कहा तुम्हें अच्छे से पता है जो कुछ भी तुमने किया है विक्रांत ने कहा हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट चौटाला साहब ने ये कंफर्म किया है कि जिस ड्रग का इस्तेमाल उस लेडी ने किया था सेम बैच के ड्रग का इस्तेमाल फिल्म क्रू के लोगों को भी मारने के लिए किया गया था और जब फिल्म क्रू के लोगों को वो ड्रग दिया गया था तब तक वो एक्सपायर भी हो गया था और अब अगर उस लेडी का कोई पार्टनर था तो फिर वो भला एक्सपर्ट ड्रग का इस्तेमाल क्यों करेगा और वो औरत खुद ही पहले फार्मासिस्ट कंपनी में काम करती थी उसे दवा के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होगी उसे भला किसी पार्टनर की क्या जरूरत होगी अच्छा अगर उसका पार्टनर नहीं थी फिर भी मैंने ये सब नहीं किया आप क्या बातें कर रहे हैं अशोकन ने अभी अपनी पूरी बात खत्म भी नहीं किया था उससे पहले ही विक्रांत ने उसे बीच में टोकते हुए कहा विक्रांत ने फिर आगे कहा कोई बात नहीं हमें पता है कि तुम इतनी आसानी से अपना जुर्म कबूल नहीं करोगे लेकिन कोई बात नहीं हमारे पास और भी कई एविडेंस है हमें क्राइम सीन से कई सारे सिगरेट के फिल्टर और आधी जली हुई सिगरेट भी मिला है ये सब टुकड़े रेड प्लम सिगरेट के हैं वही सिगरेट जो तुम तो हमेशा पीते हो अरे ये क्या बात यहाँ तो बहुत लोग सिगरेट पीता है और कई लोग रेड प्लम पीता है अशोक ने कहा देखो सिगरेट की पहचान कर ली गई है और हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि वहाँ पर जो सिगरेट मिली है वो आपकी ही है विक्रांत ने फिर अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा और हम लोग ये भी साबित कर सकते हैं कि वो सिगरेट के टुकड़े वहाँ पर क्राइम होने के पहले ही छोड़ा गया था स्मोकर विक्रांत ने अशोकन की तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए कहा तुम्हें क्या लग रहा था हमें क्राइम सीन से सिगरेट के टुकड़े मिलेंगे और हम यूं ही उसे छोड़ देंगे तुम्हें तो ये लग रहा होगा ना कि सिगरेट के टुकड़ों से भला कोई कैसे शक कर सकता है लेकिन तुम शायद भूल गए थे कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एक एक चीज को इन्वेस्टिगेट करती है देखा तुमने तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन गई फिर उसने आगे कहा हमारी फोरेंसिक टीम ने पहले ही सिगरेट के टुकड़ों को टेस्ट कर लिया है और अब वो बहुत ही जल्दी पता लग जाएगा कि वो सिगरेट के टुकड़े बीच पर मर्डर के पहले से ही थे या मर्डर के वक्त पहुंचे या फिर मर्डर के होने के बाद उसे वहां फेंका गया क्यों अशोकन क्या कहते हो खुद ही बता दोगे या फिर हम पता करके बताएं इसके बाद विक्रांत ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा तुमने तो वैसे भी बहुत सारे क्रिमिनल पकड़े हैं और तुम्हें तो अच्छे से पता रहा होगा कि इसका सिर्फ एक ही रिजल्ट है हम लोग अंत में तुम्हें अरेस्ट करके ही छोड़ेंगे इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अब हमें गोल गोल घुमाना बंद करो और सब कुछ एक्सेप्ट कर लो हमें तुम्हारे मोटिव का भी पता लग गया है और तुम्हारे खिलाफ पर्याप्त एविडेंस भी मिल गया है सर आप क्या बात कर रही है अशोक ने थोड़े गुस्से से भरे लहजे में कहा मैं अक्सर यहाँ आते रहती हूँ और दर्जनों बार सिगरेट के टुकड़े छोड़ कर गया हूँ ये कोई एविडेंस नहीं है और आप इसके बेस पर मुझे मर्डरर नहीं प्रूव कर सकता तुम वर्कला बीच पर हमेशा आते जाते रहते हो विक्रांत ने तुरंत अशोकन से सवाल किया तुम अक्सर यहाँ क्या करने आते रहते हो जब मैं डिप्रेशन में होता हूँ तब इधर आकर खुद को रिलैक्स करता हूँ तो इसमें गलत क्या है अशोक ने जवाब दिया नहीं नहीं नहीं गलत कुछ भी नहीं है विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा इसके बाद उसने कहा लेकिन अशोकन तुम्हें क्या लगता है हम लोग बेवकूफ हैं पहले दिन से ही मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ तुम शुरू से ही बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो और बिना किसी चिंगारी के धुआं नहीं उठता है